परम करुणामयी सच्चिदानंद घन रूपिणी भगवती राजराजेश्वरी श्री दुर्गा की कृपा से उनके पावन सन्निधि में उनके पावन आराधन के अवसरों पर उनके स्वरूप का चिंतन करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है आए भगवती के स्वरूप का चिंतन हम करें उसके पहले माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ हम आपके शरण हैं आप आनंदमयी हैं हमारे जीवन में आनंद के रूप में स्फुरित हो करुणामयी हैं करुणा करो दया करो जगजननी हो